समादरणीय विद्वतगण धर्म प्रेमी सज्जनों प्रसंग प्रकरण है ईश्वर के और हमारे क्या क्या संबंध हैं उनको जानना उन संबंधों को उचित रूप देना अर्थात वास्तविक रूप से व्यवहार में उनका प्रयोग करना उन संबंधों में हमसे क्या क्या भूलें होती हैं उनको जानना उनको दूर करना इन संबंधों को उत्कृष्ट ऊंची स्थिति में ले जाने के लिए प्रयत्न करना इन संबंधों को उचित स्थान देने के लिए जो व्यक्ति के अपने जीवन में दोष है कुसंस्कार है विपरीत वासनाएं हैं उनको जानना उनको हटाना समाज में राष्ट्र में उन संबंधों को बिगाड़ने वाले कौन कौन से दोष हैं जो उन संबंधों को बनने नहीं देते कितना प्रयत्न अभ्यास काल इन संबंधों को उचित रूप देने के लिए लगेगा या लग सकता है इन सब बातों का परिजान कर लेना चाहिए संबंधों को जान के उचित रूप देना ये हमारे जीवन का प्रमुख कार्य है मुख्य कार्य गौण नहीं यदि आपके मन में एक गौण रहता है ये कार्य एक गौण है प्रमुख नहीं है तो आप समझना कि आपका जीवन निश्चित विफल हो जाएगा सफल होगा ही चाहे कुछ भी बन जाइए आप जब विकल्प नहीं है अर्थात इन संबंधों को सुधारे बिना हमारा जीवन कृत कृत्य हो ही नहीं सकता एक ही निश्चित निर्धारित सिद्धांत नहीं बने आपका कोई विकल्प है दूसरा भी कोई मार्ग होगा जिससे जीवन सफल होता हो तो फिर आप इन संबंधों को नहीं सुधार सकते आप उस दूसरे विकल्प को पूरा करने में लगेगी आप क्या ये मानते हैं कि इन संबंधों को सुधारना और उनको सुधार करके ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचना यही अंतिम व्यक्ति के जीवन का कर्तव्य और लक्ष्य है यह नहीं जान पाए अब तक आप कौन कौन जान पाए जान लिया या नहीं जाने आप बताओ है शाब्दिक रूप में जाना अच्छा तो शाब्दिक रूप में जान लिया तो शाब्दिक से जानने का अर्थ होता ना व्यवहार काल में जाना तो उसको व्यवहार काल में क्यों नहीं जाते उसके कारण आप हैं उसके कारण बाहर के लोग हैं इसके इसकी गवेषणा क्यों नहीं करते आप कितने आप हैं कितने बाहर के लोग आपने शब्दार संबंध को जान लिया समझ लिया अब उसको व्यवहार काल आप नहीं दे रहे तो क्यों व्यवहार काल में क्यों नहीं लाते आप इसका उत्तर दो आप कारण बताओ जो व्यवहार में लाते हैं वो आप में कौन कौन से आप लाते हैं आप लाते हैं आप और जो नहीं लाते वो क्यों नहीं लाते उसमें आपको जो कारण मिले हो या दिखते हैं उनको बताना चाहिए आपने बताते हैं पूछने से भी नहीं बताते स्वयं आप जानते भी नहीं तो ऐसे व्यक्ति उन्नति कभी नहीं करते जो कुछ अंदर है वो बाहर बाहर है वो अंदर एकता हो एकतांता रहेगी और जो कुछ सत्य निश्चित होता है प्रमाणों से उसको स्वीकार किया जाता है कुछ लोग ये जानते होंगे कि ये दूसरे हमारे विद्यार्थी या हमारे दूसरे अध्यापक आचार्य लोग ये हमारे इस स्तर पर पहुंचाने में पहुंच नहीं बाधा दिखाई दे वो डरते नहीं कहते होंगे कि ये नाराज न हो जाएं रुष्ट न हो जाएं ऐसा लगता है आप हाँ जी आप बोलो लगता है आपको ऐसा नहीं लगता तो दोनों बात दोनों वर्गों को ध्यान देने की न तो विद्यार्थी के बताने कहने से दोषों का वर्णन करने से अध्यापक आचार्यों को दुखी होने की बात है गलत है और न ही विद्यार्थी जो है वो वो दुखी रहता हो बताता तो है नहीं अंदर अंदर दुखी रहता है ये भी अनुचित व्यवहार है और विद्यार्थी अपने दोषों को अभिव्यक्त करना बुरा मानता ये भी अनुचित व्यवहार है वो डरता है ये भी ठीक नहीं तो आप जो व्यवहार में नहीं ला पा रहे उसमें आप स्वयं बाधक अधिक हैं या बाहर के लोग बाधक अधिक हैं या दोनों ही बाधक हैं कैसा दिखता है या पता ही नहीं लगा आप बोलो अच्छा जैसा स्वयं बाधक हैं तो उसको हटाने का प्रयास करते हैं आप या नहीं करते करते हैं पर संस्कारों की फल अधिक होने के कारण <laughs> अच्छा उन संस्कारों को निर्बल बनाया जा सकता है या नहीं तो फिर अपने अधिकार की बात है आप बनाएंगे तो निर्बल बन जाएंगे हट भी जाएंगे आप नहीं प्रयत्न करेंगे वो निर्बल बनने वाले नहीं है और हटने वाले भी नहीं आप देख सकते हैं कभी कभी किन व्यक्तियों का कुछ क्रोधी स्वभाव होगा है ना वो उस क्रोधी स्वभाव को जीवन भर नहीं बदल पाता क्रोधी ही रहता है क्या नहीं है झूठ बोलने का अभ्यास है वह झूठ ही बोलता रहता है वो झूठ को छोड़ ही नहीं पाता लोभ का लोभ ही रहता है उसको दूर नहीं कर पाता वो कभी भी ये नहीं देखता ये दोष है हानिकारक है मेरे और दूसरों के लिए दुखप्रद है और ये मेरे अंदर आए हैं निमित्त से मेरे स्वाभाविक गुण नहीं है और उनका प्रयत्न करने का पूरा प्रयास नहीं करता उनसे प्यार करता है वो व्यक्ति और कोई खास बात विशेष बात नहीं है ये तो होते ही ऐसा मानता है ऐसे लोग कभी भी सुधरते नहीं वृद्ध हो जाएंगे अस्सी नब्बे वर्ष के भी हो जाएंगे स्वभाव लगभग वैसा का होता और जीवन निर्माण में स्वभाव को आमूल चूल बदल दिया जाता है एक प्रकार से इसको हमें तीसरा जन्म कह दें उस ढंग से विद्या के क्षेत्र तो मर के जन्म लेना है योगी बनना मर करके जन्म लेना है जो मर करके जन्म नहीं ले सकता वह योगी नहीं बन सकता अब क्या समझ में आया मर के जन्म लेना निराश समझ बताओ आया हो तो कौन बताएगा हम्म? पुराने हम्म? अपने पुराने बुरे संस्कारों को समाप्त करके हम्म। और ईश्वर की ओर ही लग जाना है कि ये नया जन्म और जो उसका नाम आपका क्या नाम है ब्रह्मचारी वरुण वरुण और ये नामी है और वरुण ये दोनों भी मर जाएंगे संस्कार ही संस्कार नहीं मरेंगे कभी आप सोचते हो संस्कार मर जाएंगे और हम हटा देंगे फिर वरुण और ये नामी रह जाएंगे ऐसा नहीं हो पाएगा मरे नहीं आप अब क्या समझ पाया पुराने जीवन को बिल्कुल भुला देना है भुलाना नहीं मार देना है भुलाना तो ऐसा होता भाई नगर में रहता हमको याद नहीं करते अरे कहता नहीं वो मर गया वो तो <laughs> वो मर गया हाँ समाप्त कर देता है वो हाँ इसमें ऐसा नहीं रहता कि उसको भुला ही भुला देंगे मार देंगे बोल जिसका नाम है उसको दोनों नाम और नामी भले ही आपने पढ़ा हो ये उसको समझ में आने में जो कठिनाइयां पड़ती है नहीं उपनिषद का भाव है ना रू, नाम रूपम विहाय परात परम पुरुषम उपयति दिव्यम नाम रूप को छोड़ के परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है वो क्या चीज वही तो है नाम रूप को छोड़ करके उसका दर्शन दिया जाता नदिया नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में तल्लीन हो जाती हैं है यथा नद्या नदय आता है ना पाठ तो वहाँ यद्यपि उनका दृष्टांत तो गलत है वो जो ऐसा दृष्टांत देते हैं ब्रह्म ही सब कुछ है और कैसे सब कुछ है वह नदियां सारी की सारी ना तो गंगा नाम रहता ना गंगा का आकार प्रकार रहता ब्रह्म ही बन जाती है वो समुद्र ही बन जाती है अर्थात नदी का नाम और नदी का जो आकार प्रकार था वो रहता ही नहीं ऐसे ये परमात्मा में जाकर के जीवात्मा तल्लीन हो जाता है ना वो जीवात्मा रहता है ना उसका नाम रहता ये दृष्टांत है ये दृष्टांत आपने देखा कहा इसमें दोष है नहीं पता है क्या कुछ कहा है दोष नदी का दृष्टांत दिया समुद्र में उसकी सत्ता बनी रहती है हाँ जब नदी उसका पानी वो समुद्र में उतर प्रोत हो जाता पर उस पानी की सत्ता समाप्त नहीं होती क्या समझ में आया इसलिए दृष्टांत गलत है जीव ब्रह्म ही बन जाता है नदी की भांति ये दृष्टांत ही गलत है कुछ समझ में आया नहीं यार अपना अस्तित्व खो देता है उनके मत में जैसे नदी अपना अस्तित्व खो देती है नदी अपना अस्तित्व कहां होती है उसके प्रभाव से दिखाई नहीं देती वो जल तो जो का त्यों है जो नदी में था समझ में आया अच्छा अब उस ओर चलो आप ये तो हो गया दृष्टांत की बात ऐसे वो दृष्टांत देते हैं अद्वित वाली अब आप ये देखो वो जो कहा कि नाम रूप को छोड़ के वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता वो क्या चीज है मर के जन्म लेना मर के जन्म लेता है पूरे विश्व को नाम और रूप है संसार नाम और रूप को समाप्त करता है बौद्धिक स्तर पर प्रलयवत अवस्था स्थिति नाम रूप नहीं रहते दोनों जब नहीं रहते उस समय पूरा का पूरा जीवन और गुणकर्म स्वभाव और उसके संस्कार सारे के सारे उल्टे हो जाते पहले वाला स्वभाव नहीं रहता एकदम तत्काल तो सारी बातें समाप्त नहीं होती पूरा मोड़ खा जाता है जीवन और दग्ध बीज आज की व्यवस्था तो लंबे काल तक चलेंगे उनको इस रूप में ले जाना परंतु का जीवन का जो स्तर है सोचने का ढंग है मान्यताएं हैं जैसा वो पहले मानता रहा मैं और मेरा अपने को बड़ा दूसरों को छोटा ईर्षा द्वेष करता रहा क्रोधी स्वभाव था उसका चोरी करने का स्वभाव था कितनी आदतें थी आचरण में भी ठीक नहीं था वो सारा का सारा छोड़ यद्यपि मानसिक स्तर पर देर तक चलेगा शारीरिक स्तर पर एकदम पूरा समाप्त होता है यदि आप पूरे जीवन को समाप्त नहीं कर सकते तो आप ईश्वर के साथ इन संबंधों को उचित रूप में नहीं ला सकते योगी नहीं बन सकते यदि मर जाना पड़ेगा और अपने ही बौद्धिक बल पर मार देना पड़ेगा मार देने पर ये बातें आएंगी सामने आपके भी आती है स्वभाव से मर गए हम पूरा विश्व मर गया नाम रूप समाप्त अब उसके मन में एक बात आएगी मर जाने के पश्चात कुछ रहता भी है या अभाव हो जाता आएगी या नहीं आएगी हम्म? अभी कभी विचार किया हो आपने मोटे रूप में तो करते रहते हैं सूक्ष्मता से देखो जब मरने की बात आती है मर जाएंगे हम और हम मानते हैं कि जीव आत्मा अनादि है और अनंत भी है काल की दृष्टि से ऐसा मानते हैं ना परंतु शत प्रतिशत ऐसा जचता हो दिमाग बुद्धि में कि जैसे अब हमारी सत्ता है हम विद्यमान हैं ऐसे ही आगे ज्यो के त्यों रहेंगे ये कुछ ही लोगों के दिमाग में होता होगा क्या कैसा रहता आप बताओ अपना है कम होता है क्यों नहीं अपना बोलो आप बोलो नहीं आता ना आप अपना क्यों नहीं बोलते आता है तो आर्थ देखो आत्मनिरीक्षण करो जैसे हम आज खाते पीते हैं शरीर में रहते हैं सब व्यवहार करते हैं सारी क्रियाएं हो रही है क्या मरने के पीछे मृत्यु के पश्चात क्या ऐसा ही जीवन और तैयार होगा ये शत प्रतिशत जचता है या कम जचता है या आधा जचता है या जचता ही नहीं ये बताओ है क्यों जी बोलो चुपचाप क्यों बैठे हो हैं हाँ जी क्या है नहीं ऊंचा बोल देते तीन बार क्यों बोलना पड़ रहा है आपको एक बार बोलो नहीं जी मैं बस अब चौथी तीसरी बार बोलने की क्या आवश्यकता थी पहले ही बार बोल देते बोलना भी सीखना पड़ता है कितनी ऊंचाई पे कैसी अभिव्यक्ति मुझे करनी चाहिए ये तो भले ही आपने बलोच्चारण शिक्षा पढ़ी होगी हुँ? हम्म? क्या पाठ है नहीं याद वो भी याद है भरणोच्चार शिक्षा में क्या लिखा है बोलने के विषय में माधुर्यम माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थम चढ़ षड एते पाठका गुणा है कुछ याद नहीं कुछ भी याद नहीं <laughs> कोई विद्वान आके कुछ पूछेगा तो आप सारे के सारे अनभिज्ञ बिना पढ़े लिखे जैसे दिखाई दे गया कारण आप जितना परिश्रम करना चाहिए उतना नहीं कर बहुत कम परिश्रम कर चाहे योग का विषय हो और चाहे भाषा का विषय बहुत थोड़ा परिश्रम कर इतने परिश्रम से ना तो विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे न योग के क्षेत्र जो आजकल आप करते माधुर नियम अक्षर व्यक्ति मधुरता अक्षरों की अलग अलग सुस्वर है पद छेद धैर्य से और उसकी जो धुन है लय है और विराम इतनी बातों पर ध्यान छह बातों पर ध्यान देकर बोलना कभी कभी आपसे कोई पूछ ले अब बताओ इसकी संस्कृत क्या बनेगी इसकी क्या बनेगी उसको भी आप शायद नहीं बना पाएंगे लगभग या बना लेते हो या नहीं बना लेते हो सभी नहीं? नए तो एक तो ये होंगे ये नए और कौन है नया बस आप कितने हाँ जी आपको कितने दिन हो गए हाँ हाँ आपसे कोई पूछ ले एक परीक्षा की दृष्टि से कहो कि आपका ज्ञान कैसे काम करता कोई ये पूछ लेगा यदि देवदत्त परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता तो क्या संस्कृत बनाएंगे देवदत्त परिश्रम अकरिष्यत हाँ।, हाँ। उत्तीर्ण अभविष्य आप क्या बनाएंगे यदि देवदत्त परिश्रमं करिष्यति हाँ, तर्हि <laughs> अच्छा आप क्या बनाएंगे नहीं पता आप तो नए होंगे आप क्या बनाएंगे यदि देवदत्त परिश्रम अकरिष्यत् हाँ। तदा तर्हि हाँ।, हाँ जी ठीक बनाया क्या इन्होंने वाक्य नहीं बनाया ठीक बना दिया ठीक बना क्या है जी है क्यों कौन सा लकार है है क्या लुंग लकार है ये आप क्या सुन नहीं आ रहा है नहीं आ रहा आप बोलो है लंग लकार क्या लंगरकार है लंग लकार है, है? और कौन कार है और कौन बताएगा आपको पता है हाँ जी विश्वेश जी पता ही नहीं अभी तो लकार का ही पता नहीं सारे अशुद्ध बोले लगभग इन्होंने वाक्य बनाया वो तो ठीक था पर लकार कौन सा था वो लिंग लिंग का लिंग कार है ये तो और आपने लकार किसी ने लंग किसी ने लुक बताया अब कोई कहेगा इनको लंग लूंगा पता नहीं है लकार भी दस याद नहीं है क्या दर्शनाचार्य बनेंगे क्या बड़े ऐसे हंसी उड़ाएगा क्या करोगे आप भाषा तो आपको थोड़ी सी भी नहीं आती लकारों का ये पता नहीं कौन से लकार में कैसे वाक्य बनेगा यही पता नहीं अब बोलेंगे जब भी अशुद्ध बोलेंगे आप सिखाएंगे जब भी कुछ अशुद्ध सिखा सकते हैं तो इतना ढीलापन क्यों आप क्या परिश्रम करते हैं आप लिंग निमित्ते क्या पाठ है लिंग क्रियाति क्रियाति लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्ताऊ लिंग निमित्त में लिंग होता है जब क्रिया की सिद्धि नहीं होती किसी कार्य के करने में जब क्रिया की सिद्धि नहीं होती वहां लिंगलकार होता है कुछ समझ में यदि देवदत्त परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता अब इन्होंने वाक्य ठीक बना दिया लिंगलकार का तो इसलिए आप अध्ययन अध्यापन में एक फिर योगाभ्यास में दो फिर कर्म करने में सब में आप ढीले डाले रखिए कमजोर है इतना ढीलापन इतना कम परिश्रम करना आपके जीवन को उन्नत बनाने में कारण नहीं बन पाएगा उपाय नहीं है इसको परिवर्तित कर दो पहले जीवन को मार दो अब नया जीवन ले दो पहले जीवन में आपने कभी नकल वकल भी करी होंगी जैसे परीक्षा देते समय किस किसी ने की पहले जीवन में नकलें जैसे हाथ खड़े करो एक दो तीन चार पांच छह आठ उस जीवन को तो मार दो नकल वाले और वास्तविक जीवन को लाओ उस नाम रूप को छोड़ दो पहले कभी कभी आप सोचते होंगे समय नहीं मिलता ऐसा सोचता प्राय व्यक्ति उसके पास में कितना समय है सारा मिला के देखे पूरे दिन भर का समय देखो 24 घंटे में छह घंटे नींद के निकाल दो अपने लिए जो घंटे हैं भोजन खाना शौच जाना वस्त्र धोना वो अपना व्यक्तिगत है वो समाज का कार्य कितना करता है दिन भर तीन घंटे भी नहीं करता होगा प्राय तब भी वो ये मानता है मैं बहुत कार्य करता हूं क्या समझ में आया आपको पूरे दिन भर जो व्यक्ति दो घंटे भी काम नहीं करता तीन भी नहीं करता दो भी नहीं करता उसके दिमाग ये बना हुआ मैं इतना काम करता मेरे पास में समय नहीं है अब बतलाओ क्या करोगे <laughs> कितने घंटे इनके पास में समय नहीं है दो घंटे समाज का काम करता नहीं है कितने बच गए छह को निकाल दो और फिर दो या तीन को निकाल दो कितने बच गए सात निकाल दो छह सात आठ नौ दस को निकालो कितने घंटे बच गए वो सो भी लिया है अब इसका दिमाग ये बना हुआ है कि मुझे समय नहीं मिलता ऐसे ही कहते देखे जाते हैं वो समय कहाँ है कैसे बचाते हैं समय को और कितना मेरे पास समय है उसका कोई उसके मापदंड नहीं है कोई इसका निरीक्षण परीक्षण नहीं कि कितना समय है और मैं कितना समय कहां लगाता हूँ कितना समय विचारों में गौण कार्यों में लगाता हूं कितना समाज को देता हूं ये कुछ नहीं आप ध्यान दें आप हैं योगवादी मोक्ष मार्गी मोक्ष पर चलने वाले अब भोगवादी आपसे कई गुणा अधिक भी देखे जाते भारत वालों को हटा दो थोड़ा विदेशियों की बात कर रहा हूं जैसे ऑस्ट्रेलिया देश और भी देशों में तुम ऐसा मिलेगा कितना परिश्रम करते कल्पना करेंगे एक विद्यार्थी वहां की स्थिति के अनुसार पंद्रह वर्ष के पश्चात तो वो पढ़ता भी अध्ययन करता और वो अध्ययन करता हुआ कोई ऐसे कार्य करता है अपना खर्चा स्वयं निकालता है छह घंटे या कितने घंटे कार्य करेगा वो पूरा खर्चा वो अपना आप निकालेगा वही विद्यार्थी स्वयं रोटी बनाता है स्वयं शुद्धि करता है सारे घर की सफाई करता है कितने कार्य उसके ये भी अपने आप ही करता है किसी को नौकर या सेवक का कोई प्रश्न ही नहीं उस विद्यार्थी का और पढ़ता है और अर्थव्यवस्था अपनी आप करता है प्राय माता पिता भी ऐसे उनके साथ संबंध नहीं रहते पंद्रह वर्ष के पश्चात अब आप उनकी तुलना में अपना जीवन देखें उन्होंने कितना उत्कृष्ट किया भौतिक उन्नति में उस नगर के साधनों को देखो सारी व्यवस्थाओं को देखो वातानुकूल नगर की शुद्धि देखो उसकी शुद्धि के साथ चंडीगढ़ को मिला दिया जाए तो अत्यंत दुर्गंध युक्त मिलेगा चंडीगढ़ इतनी शुद्धि है इतना बड़ा नगर है पचास किलोमीटर दूरी लंबाई चौड़ाई इतने बड़े घर में जब मैं रहता था कई कमरे थे इतना लंबा चौड़ा था और उसमें मैंने चार मास में कोई मक्खी उड़ती नहीं देखी जबकि घास इसी प्रकार उसका बाहर हुआ जैसे घास है ना उसको काटते हैं आप तो आप ऐसे पूरी तरह पड़ा है ना गहूं के खाम में डालते आलसी लोग यहाँ पड़े रहते कम से कम ये घास को डाल काट के तो डालते इतना ही कोई नहीं कोई परिश्रम नहीं ना शुद्ध तो का डांग है ना इसका उपयोग का ढंग है ना कुछ भी नहीं पड़े हैं वैसे ही सूरों की तरह काफी के जैसे तो सूर्य पड़ा रहता था आंख बंद रहती कीचड़ में और वैसे पड़ा है वैसे आंख खुल गई तो खाने के लिए चल पड़े <laughs> नींद आ गई तो सो गए अब कल्पना करेंगे कितनी शुद्धि है कल्पना करेंगे और वो वो जो भोगवादी अर्थवादी व्यक्ति कहां पड़े कहां आगे चले गए भौतिक विज्ञान में आगे देखो शुद्धि में आगे देखो अब वो इतने भोगवादी आगे बढ़ गया आप उनका बधाई खंडन करते रहे आपने इतना परिश्रम योगवाद में कहा किया ये देखो ना आप यदि उनकी भांति योगवाद में परिश्रम करें तो जैसे वो सफल है अपने भोगवाद में आप योगवाद में सफल है कम से कम एक में तो सफल होना चाहिए आप अपने स्वभाव को बदलो विचारों को एक और खूटी पर रख दो वो स्वामी प्रजानंद ने कहा था ये गठर जो बात है ना पुस्तकों का <laughs> इसको तो मन हम बहा दो और मेरे से पढ़ना हो तो फिर आओ मैंने कहा ठीक है यमुना तो इस गठड़ को आप अपने को पहले जीवन वाले गठर को बहा दो छोड़ छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे है जी या भूड की और भौरे की कथा की तरह इसको बगल में रखोगे सुनिए था या नहीं सुनिए कल्पना करते ना कथा बना लेते कल्पना करते भौरे की वो तो सुंगता फिरता है घूम घूम करता देखा है ना भौरे को जानते नहीं जानते और भूड को जानते टट्टी की गोली बनाता और उल्टे पैरों से ऐसे गाड़ी की तरह खींचता ले जाता था पिछले पैरों से नहीं देखा आपने घसीटता घसीटता घसीटता गोली बनाएगा गोबर की और टट्टी की और पिछले पैरों से ऐसे ले जाएगा घसीटता घसीटता देखा होगा गोबर को समाप्त कर देता है टट्टी को समाप्त कर देता कल्पना की किसी ने कथा उस गोबर खाता है उसी में रहता है भौरे की उसकी मित्रता हो गई कल्पना करते हैं और वो कहने लगे देखो क्या ये गुलाब के फूल और चमेली के फूल और रात की रानी फलाना ये हमारे उद्यान में चलो क्यों यहाँ टट्टी में टक्कर मारे तो उसने सोचा ही ले तो चलता है कभी मेरी ये गोड़िया ना मिले वहां <laughs> उसने अपनी ये रक्षा के लिए अपनी खाद्य पदार्थ की दृष्टि से उन्होंने अपने बगल में दबा ली एक टट्टी की गोली गोबर की गोली दबा ली तो वहां जाके कहने लगा कहा है वो ध्यान फूल के सीधे देखो कितने कहता कोई यहाँ गंध ही नहीं आ रही कहाँ गंध कुछ भी नहीं है ना फूल है वहां के झूठ बोल रहे अच्छा फायदा ही दिखाओ आप तो वो टट्टी की गोली जो थी वो दुर्गंध से भरी हुई वो आनी नहीं दे सको देखो इनका इसको हटा दे तो ये पूरा आपका जीवन है ना टट्टी की गोली जैसा है दबा हुआ इसको बगल से हटा दो आप इससे प्यार करोगे तो जीवन को सुधार नहीं सकते आप वही बना रहेगा जो जन्म से लेके अब तक एकदम छोड़ दो और विशुद्ध होने की बात करो जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है है या नहीं जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध है पवित्र आपने उसको अपवित्र बना रखे अच्छा अब मेरा